सांस रोकी सब नमस्कार आप सुन रहे radio Madhuban 90.4 FM Tarang digital singing competition में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी अच्छी तरह से तरंग प्रोग्राम को सुनते हैं और जिसमें बच्चे आते हैं और अपना जो है गाने का हुनर दिखाते हैं अपने आवाज़ के माध्यम से और हम सभी उन बच्चों को सुनते हैं बहुत ही इन्जॉय करते हैं और जो आवाज़ अच्छी लगती हो उसके लिए हम मैसेज भी करते हैं तो आशा करता हूँ आज भी आप जिस भी बच्चे की आवाज़ अच्छी लगेगी उसके लिए आप नाम लिख के मैसेज कर सकते हैं चाहे कोई भी विद्यार्थी हो उसका नाम ज़रूर ध्यान से सुनिए और फिर गाना सुनिए आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर उस नाम को लिखकर अपना नाम लिखकर भेज दीजिए चौरानवे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर तो आइए आज के इस तरंग डिजिटल सिंगिंग कॉम्पिटिशन को हम लोग सुनेंगे ये राज पीपला जी हाँ गुजरात से जो नर्मदा के बिल्कुल पास में है राजपीपला यहाँ से M R arts and science college के बच्चे इसमें पार्ट ले रहे हैं इसमें भाग ले रहे हैं तो आइए उन बच्चों को सुनते हैं और हर बच्चे की आवाज़ अपने आप में ख़ास है आप सुना है रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कराते रहो अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम् कौन कहते हैं भगवान आते नहीं कौन कहते हैं भगवान आते नहीं तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं सब मिलकर हम वसवा प्रतीक है मैं S Y B S S Y B S C से हूँ चेहरा है या चांद खिला है जुल्फ घनेरी शाम है क्या सागर जैसी आँखों वाली ये तो बता तेरा नाम है क्या चेहरा है या चांद खिला है जुल्फ घनेरी शाम है क्या सागर जैसी आँखों वाली ये तो बता तेरा नाम है क्या तू क्या जाने तेरी खातिर कितना तड़पे है ये दिल तू क्या जाने तेरी खातिर कितना है बेताब ये सागर जैसी आँखों वाली ये तो बता तेरा नाम है क्या चेहरा है या थैंक यू सब मिलकर मेरा नाम वसा भदेश कुमार कनुभाई है मैं S Y B S C से हूँ आँखों के पन्नों पे मैंने लिखा था सौ दफ़ा लफ्सों में जो इश्क था हुआ ना होठों से बया खुद से नाराज हूँ क्यों बे आवाज़ हूँ मेरी खामोशियाँ हैं सजा दिल ये सोचता फिर भी नहीं पता किस हक से कहूँ बता कि मैं हूँ हीरो तेरा कि मैं हूँ हीरो तेरा सब मिलकर नाम वसा संदीप भाई है मैं एफ आई बी ए में पढ़ता हूँ कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है के जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए के जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं तुझे जमी पे बुलाया गया है मेरे लिए तुझे जमी पे बुलाया गया है मेरे लिए थैंक यू सब मिलकर गाए हाँ तरंग ऑन रेडियो मधुबन 90.4 गाएंगे सब मिलकर गाएंगे तरंग मेरा नाम वसा खुशबू है मैं टी वाई बी ए में स्टडी कर रही हूँ चाहा है तुझको चाहूँगी हरदम मर के भी दिल से ये प्यार न होगा कम तेरी वो बातें वो चाहत की रस्में झूठे थे वादे क्या झूठे थे कसमें सारे उम्र है मुझको दर्द जुदाई का सहना ये भी कोई जीना है सिर्फ आंसू पीना है सिर्फ आंसू पीना है ये भी कोई जीना है चाह है तुझको चाहूँगी हरदम मर के भी दिल से ये प्यार न होगा कम तेरी हूँ तेरी जो चाहे कसम दे दे मुझको थैंक यू सब मिलकर गाए हाँ Tarang on radio Madhuban 90.4 FM 90.4 FM गाएंगे सब मिल मेरा नाम वस्तवा नम्रता है मैं टी आई बी में स्टडी कर रही हूँ कसम की कसम है कसम से हमको प्यार है सिर्फ तुम से कसम की कसम है कसम से हमको प्यार है सिर्फ तुम से लोग कहते हैं पागल हूँ मैं ये भी न जानू दिल उठाया है मैंने अब किसी की न मानो चैन दे कर के मैंने बेचैनिया ली है दिल उठाया है मैंने अब किसी की न मानो कसम की कसम है कसम से हमको प्यार है सिर्फ तुम से कसम के कसम है कसम से थैंक यू सब मिलकर गाए हाँ तरंग गाएंगे सब मेरा नाम राठवा सरिता है मैं एफ आई बी ए में हूँ तुम्हारी गज़ल है शिखर पर तुम्हारा तुम्हारे बिना अपना जीना गवारा तुम्हें यू ही चाहेंगे तुम्हें यू ही चाह जब तक है दम बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम सागर की बाहों में मौजे है जितनी हमको भी तुमसे मोहब्बत है उतनी ये बेकरारी ये बेकरारी ना होगी कम थैंक यू सब मिलकर गाए हाँ तरंग रेडियो मधुबन 90.4 गाएंगे सब मिलकर गाएंगे तरंग मेरा नाम राजेंद्र है मैं एफ आई बी ए में पढ़ता हूँ दिल को धड़कना तूने सिखाया दिल को तड़पना तूने सिखाया आँखों में आंसू छुपे थे कहीं इनको छलकना तूने सिखाया सीने में बसाया क्यों दिल से जब खेलना ही था हमसे दिल लगाया क्यों हमसे मुँह मोड़ना ही था दिल मेरा चुराया क्यों मिलती थी नजरें जब भी नज़र से उठते थे शोले जैसे जिधर से सांसों से निकला जैसे धुआं सा बनता था मुझसे थैंक यू सब मिल मेरा नाम गुप्ता प्रियंका है मैं S Y B S C से हूँ तो कितनी अच्छी है तो कितनी भोली है प्यारी प्यारी है ओ माँ थैंक यू सब मिलकर गाए हाँ सब मिलकर मेरा नाम देवांग प्रजापति है मैं S Y B S C से हूँ इस लम्हे को रोक दूँ या मैं खुद को इसमें झोंक दूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ इस लम्हे में मैं कुछ भी जानू ना नैना नैना लागे नैना नैना लागे नैना नैना लागे नैना नैना लागे तो से नैना जब से मिले तो से नैना जब से मिले बन गए सिलसिले तो से नैना जब से मिले और शुद्ध बुद्ध कोई है कोई मैंने हाँ जान गवाई गवाई मैंने थैंक यू सब मिल मेरा नाम सिद्धराज सिंह परमार है ए मेरे प्यारे वतन ए मेरे बिछड़े चमन तुझ पे दिल कुर्बान तू ही मेरी आरज़ू तू ही मेरी आबरू तू ही मेरी जान तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम चूम लूँ मैं उस जुबा को जिस पे आए तेरा नाम जब सबसे प्यारी सुबह तेरी सबसे रंगी तेरी शाम तुझ पे दिल कुर्बान तू ही मेरी आरज़ू तू थैंक यू सब मिलकर गाए हाँ Tarang on radio Madhuban 90.4 FM 90.4 FM गाएंगे सब मेरा नाम चिराग पटेल है और मैं S Y B S C में स्टडी कर रहा हूँ गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया संभालो मुझको ओ मेरे यारो संभलना मुश्किल हो गया दिल में मेरे ख्वाब तेरे तस्वीर जैसे हो दीवार पे तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ आता है गुस्सा मुझे प्यार पे मैं लुट गया मन के दिल का कहा मैं कहीं का ना रहा सुन मेरी ओ दिल रुबा बुरा ये जादू तेरी आँखों का ये मेरा कातिल हो गया गुलाबी आँखें जो तेरी देखी थैंक यू नमस्कार श्रोताओं आज आपने सुना Tarang digital singing competition M R arts and science college Rajpipla के बच्चों को आपने सुना आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा रेडियो मधुबन करता है सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं और आपकी दुआएं उनके साथ हैं ऐसे में शुभ आशा के साथ सभी बच्चों को फिर से एक बार बहुत सारी शुभकामनाएं सलाम नमस्ते खमा गनीसा सुनते रहो मस्कर रहो सब मिलते